सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ऋग्वेदी ऐतिरोपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें अभी तक ये सिद्ध किया गया ज्ञानी के ज्ञानी कर्म नहीं करता उसके लिए कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कर्म करने से कर्म का प्रयोजन स्वर्ग पुत्र आदि हो कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करना हो पुत्र पैदा करना हो आदि आदि हो तो कर्म करेगा ज्ञानी को कुछ चाहिए नहीं उसने तीनों यशों को परित्याग किया हुआ है ज्ञानी का अर्थ विद्युत ज्ञानी है विद्वत सन्यासी लोकेशणा पितेषणा पुत्रेषणा पर त्याग उसके दृष्टि से इसलिए कर्म नहीं कर सकता ये सिद्धांत में स्थापित किया पूर्व पक्ष ने कहा जब ज्ञानी कर्म को कर्म करने से ज्ञानी को कोई प्रयोजन नहीं है तो कर्म न करने से भी तो कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर कर्म क्यों छोड़े कर्म न करने से कोई सिद्ध हो कोई कार्य सिद्ध हो सफल हो तो कर्म छोड़े हो कोई सिद्ध होने वाला तो है नहीं नैव तस् कृते ना कृत नया कश्चन कहा गीता में भगवान ने कहा उस ज्ञानी को कुछ किया हुआ कर्म से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता न करने से कोई हानि भी नहीं उसकी न करने से हानि भी नहीं जैसे अज्ञानी जनों के लिए स्वर्ग आदि चाहिए तो कर्म करने से प्रयोजन सिद्ध होगा और नरक से निवृत्ति होने के लिए नरक यातना भोगना पड़े इसलिए अग्निहोत्रादि कर्म करना पड़ेगा अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करेगा तो हानि है उसकी नरकादि की प्राप्ति होगी ऐसे ज्ञानी को नहीं नैव ऐसे कृत नाथ हो ना कृत यह कश्चित करने से कोई प्रयोजन विशिद्ध भी नहीं है न करने से कोई प्रयोजन की हानि भी नहीं है होगा न चाश्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ प्रकाश जय गीता में कहा उसके लिए कोई भी अर्थ व्यपास नहीं है किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है न तो उसको लेना न देना कोई काम नहीं उसका ज्ञानी का इसलिए कर्म नहीं करता इसी प्रकार यहां भी कहा सिद्धांत ने कहा जो संन्यास जो होता है कर्म त्याग माने संन्यास कर्म त्याग करता है व्युत्थान मात्र के अभाव रूप है अभाव अधिकरण स्वरूप होगा उसका धर्म ही होगा ये जो ज्ञानी पुरुष है व्युत्थान उसका स्वरूप ही हो जाएगा अभाव अधिकरण स्वरूप मानते हैं मीमांसा आदि भी वेदांत आदि किसी को देव कहा तो अक्रिया मात्रत्वाद व्युत्थान से इत्यादि साथ ने कहा था उसके व्यतिरेकी दृष्टांत दिया देखो कर्म जब कब होता है हमें अपना स्वरूप का पहचान नहीं है अन्य में अन्य बुद्धि करके हम बैठे हुए हैं मनुष्य आदि में अहम करके बैठे अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय आदि जाति अभिमान लगा करके और वर्णाभिमान लगा करके आश्रमाभिमान लगा करके बैठे हुए हैं वर्णाश्रम धर्म वास्तव में आत्मा का नहीं शरीर का धर्म है उस धर्म को अपने में आरोप करके हम बैठे हुए होते हैं उस काल में हम अज्ञानी होते हैं अपना ज्ञान नहीं है जब अपना परिचय नहीं है ज्ञान नहीं है उस काल में व्यक्ति अज्ञानी होता है अज्ञानी को चाहिए होता है स्वर्ग चाहिए पुत्र चाहिए अमृत चाहिए ऐसा उसके लिए इच्छा होती है तब तक फल की प्राप्ति की इच्छा होती है तो इच्छा होने पर साधन जब फलेच्छा जग जाती है तो साधन की इच्छा कर, साधन करने की इच्छा पैदा होगी फिर कर्म करेगा साधन कर्म है तब तक लोक प्राप्ति पुत्रादि प्राप्ति के साधन कर्म तो अज्ञानी कर्म करता है अज्ञान है तो इच्छा होगी इच्छा से कर्म होगा ये स्थिति है माने इसलिए अविद्या काम कर्म को संसार कहा अविद्या माने अज्ञान अज्ञान से काम माने इच्छा तत्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा जब इच्छा होगी तो क्या होगा कर्म करेगा उसके अनुकूल साधन करेगा कर्म करेगा संसार का स्वरूप तीन विभाग में बांटा हुआ है अविद्या काम कर्म ये कहा ये जो इच्छा क्यों होती है अज्ञान के कारण इच्छा होती है अपना स्वरूप का उसको पहचान नहीं अज्ञानी को शरीर में जब आत्मबुद्धि है उस काल में अज्ञानी है अन्य में अन्य बुद्धि होना ज्ञान नहीं हो रज्जु में सर्व बुद्धि कोई करता हो उस काल में वो ज्ञानी नहीं माना जाए रज्जु में रज्जु बुद्धि करे तो ज्ञानी है रज्जु में सर्वबुद्धि करते समय अज्ञानी है वो काम है तो ये जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि जो हो रही है अविद्या के कारण हो रही है इसके कारण से तत्त फल प्राप्ति की इच्छा होगी हमें स्वर्ग आदि फल की इच्छा होगी इच्छा होने पर कर्म करेगा तो ये जो अविद्या निमित्तक होता है काम इच्छा इच्छा निमित्त होता है कर्म अविद्या से इच्छा पैदा हो जाती है अज्ञान से और इच्छा काम मान इच्छा इच्छा पैदा होने पर कर्म करता है उसकी पूर्ति के लिए तो ये कहा था अविद्या निमित्त ही प्रयोजन से भाव है तो तृष्णा है प्रयोजन तृष्णा जो लगी हुई है प्रयोजन साध्य की तृष्णा तत्त फल प्राप्ति की तृष्णा को प्रयोजन तृष्णा है भाव है ये जो होता है अविद्या निमित्त है अज्ञान है इसलिए तत्त फल को चाहता है न वस्तु धर्म ये जो तो प्रयोजन की तृष्णा वस्तु धर्म नहीं है फल की जो इच्छा होती है आत्मा धर्म नहीं है वो अविद्या के कारण से है सर्व तद तदर्शन कहा था सभी प्राणियों को देखा फल की इच्छा सभी करते हैं आत्माधर्म होता सभी प्राणी को नहीं होता ज्ञानी को भी होना चाहिए था ज्ञानी नहीं सभी क्या है जब तक अज्ञान है तब तक तब तक फल की इच्छा रखता है प्रयोजन तृष्णया जो प्रेरमाण से भावना का ही प्रवेश प्रयोजन की तृष्णा जो इच्छा है वो मिल जाए पहले इच्छा रूप में पैदा हो जाती है उत्कट होने के बाद उसी को तृष्णा बोलते हैं वो इच्छा जब तीव्र अवस्था में पहुंच जाती है तो तृष्णा कहते हैं पूर्व अवस्था उसकी इच्छा और उत्कट अवस्था में तृष्णा बोल देते उसको इच्छा का ही पर्यायवाचक तृष्णा फल की इच्छा उत्कट हो जाए तृष्णा शब्द से बोला जाता है तो प्रयोजन की तृष्णा से प्रेरित हुआ जो व्यक्ति होगा उसका वाणी से मन से शरीर से प्रवृत्ति देखी देखा जाता है अभी वाणी से प्रवृत्ति होगी किस प्रवृत्ति से कौन सा फल मिलना है कभी वाणी से फल प्राप्त होगा कभी शरीर से होगा कभी मन से होगा इष्टानिष्ट सोच ऐसा क्योंकि अज्ञानी के बारे में वृद्धारण में कहा है जाया विश्राद ऐसा कामना करता है क्यों अज्ञानी है शरीर में आत्मबुद्धि है और फल चाहता है पुत्र और पुत्र के साधन पत्नी चाहता है इसे जाया विश्राद यहां से आरंभ होता है यहां से आरंभ करके मानी फल की तृष्ठा से वो साधन की इच्छा कर रहा है साधन पत्नी है पुत्र प्राप्ति के लिए इसलिए पत्नी की इच्छा करता है क्यों पुत्रे पुत्रे नहीं एवं लोग को जाइए ऐसा सुना हुआ है इस लोग को जीतना है तो पुत्र चाहिए तो पुत्र कहां से होना पत्नी होगी तो पुत्र होगा इसलिए पत्नी की इच्छा करता है फल की इच्छा से प्रेरित होता है तब साधन की खोज करता है इत्यादि नाम जो जाय वैसे इत्यादि वाक्यों द्वारा पुत्र वित्तादि पांच लक्षण काम में मिलेगी हुई पुत्र वित्तादि पांच मिलकर के कर्म होता है कोई भी कर्म करेगा पांच स्वयं होगा यजमान होगा पत्नी होगी पुत्र होगा दैव वित्त मानस वित्त मिलकर पांच होते हैं पांच से होने के कारण उसको पांत बोला गया सभी कर्मों को पांत बोलते वैदिक कर्म पंक्त कहे जाते हैं क्यों तो पंक्ति छंद का वहां सादृश्य है पंक्ति छंद में एक पाद में पांच अक्षर होता है उसी पंच संख्या को लेकर यहाँ भी पांच है इसलिए उसको पंक्ति संबंधी होने से पांच का एकदम सूत्र से अण लगाया हुआ पंक्ति संबंधी है इसलिए पांत अण प्रत्यय लगा के पांत बनाया गया उभे ही एते साध्य साधन लक्षण ऐसा निभा ये जो संसार जो है ऐसा ही है दो प्रकार में है साध्य और साधन दो भाग में विभाग है कोई फल रूप में है कोई साधन रूप में है संसार का स्वरूप यही है ये दोनों को दोनों यशवाई ही है क्यों फल की इच्छा होती तो साधन की इच्छा होती इच्छा होगी तो यशवाई ही है तो ऐसा कहा है यदि बाज नहीं ब्राह्मण है ऐसा कहा था यहां तक कि भाष्य टीका हो गई थी आगे कहते हैं ठीक है एवं क्रिया हेतु प्रदर्श तद अभावाद क्रिया क्रियाभावो अयत्न सिद्ध इस प्रकार क्रिया का हेतु दिखा दिया अविद्या क्रिया का हेतु अज्ञान अपना ज्ञान नहीं है तो क्रिया माने कर्म का कारण है अज्ञान है तो विषयों की इच्छा होगी विषयों की इच्छा अंदर कर्म करेगा एवं क्रिया हेतु प्रदर्श्य कर्म का हेतु दिखा करेगा तद तो है तो ज्ञानी में क्रिया का हेतु नहीं माने अज्ञान नहीं है वो अपने आत्मभाव में पहुंचा हुआ है कर्म का हेतु अविद्या है भूल है इसलिए क्या होता है अज्ञान होने के कारण विषयों में समीचीनत्व बुद्धि आ जाती है ये लिए मेरे लिए इष्ट है ऐसी बुद्धि आएगी इष्ट बुद्धि होने पर इदम में भूया की इच्छा पैदा होगी उस विषय इच्छा पैदा होने पर कर्म शुरू करता है कर्म के साधन जो उसकी पूर्ति के साधन जो कर्म होगा करेगा वो यही है एवं क्रिया हेतु प्रदर्शन इस प्रकार के कर्म का हेतु अविद्या दिखाया अज्ञान अज्ञान को दिखाकर तद अभाव ज्ञानी में जो विद्वत सन्यासी की चर्चा है ज्ञानी का उसमें क्रिया का हेतु नहीं है कर्म का हेतु अविद्या नहीं है ज्ञान नहीं है वो अपने स्वरूप में स्थित है शरीर बुद्धि में नहीं है वो इसलिए विदुष क्रिया भाव आयत्न सिद्ध है इसलिए कर्म का अभाव स्वतः सिद्ध है जो कारण नहीं तो कार्य नहीं होगा जो धागा ही नहीं रहे तो कपड़े कहां से बनेगा अज्ञान है नहीं तो फिर अज्ञान जन्य कर्म कैसे होगा कर्म ज्ञान ही नहीं कर सकता ये सिद्ध होना यही कहना चाहते हैं भाष्य में कहा अविद्या काम दोष आया बाण मन काय प्रवृत्ति है पांत लक्षण आया अनुपत्य है आगे है अविद्या काम दोष यही है अविद्याजन्य काम जो इच्छा रूपी दोष से ये निमित्त है अविद्या है तो इच्छा होगी विषयों की और वो विषयों की इच्छा रूपी दोष का निमित्त बन करके वाणी से मन से शरीर से ये प्रवृत्ति जो होनी थी बाण मान काय प्रवृत्ति पांच लक्षण है ये पांग का लक्षण है पांच से मिलकर के होते हैं प्रवृत्ति इसलिए पांग का कहा उसको लक्षण आया विदुषो अविद्यादि दोषाभावात ज्ञानी जो होगा विद्युत सन्यासी जो होगा वो ऐसा तीनों ऐसा का त्याग करके बैठा हुआ है उसका अविद्यादि दोषाभाव उसमें अविद्या भी नहीं काम भी नहीं है इसलिए क्रिया संभव नहीं है अनुपत्ति क्रिया पांच लक्षण प्रवृत्ति संभव नहीं अनुपत्ति ऐसा होगा कहा क्रिया अभाव मात्र वित्थान यहाँ तो कर्म का जो अभाव होना वित्थान है कुछ करना वित्थान नहीं वित्थान के लिए कुछ करना नहीं कर्तव्य नहीं है वो तो जो कर रहा था बस उस चुप हो जाना यही है वित्थान कर्माभाव मात्र वित्थान कर्म का अभाव मात्र वित्थान कहा है न तो यागाधिपत अनुष्ठेय रूपम भावात्मकम च भावात्मकम यागादि के समान अनुष्ठेय नहीं होता वित्थान त्यागना जो होता है अनुष्ठेय नहीं होता यागादि के समान अनुष्ठेय स्वरूप नहीं है वो और भाव रूप भी नहीं अभाव रूप है व्युत्थान भावात्मकम भी नहीं है वो अभात्मा अभावात्मक है वो व्युत्थान वो अभाव जो होता है स्वरूप आत्मस्वरूप भी होकर बैठा हुआ है तच्च विद्यावत पुरुष धर्म जो व्युत्थान है जो क्या है जो ज्ञानी ज्ञान वाला पुरुष का धर्म मैंने ज्ञानी पुरुष का धर्म ही है उसी में रहता है अभाव अधिकरण स्वरूप होता है मीमांसक में विद्यावान जो पुरुष होगा उसी का धर्म है वो यदि न प्रयोजन अनुष्ठान इसलिए व्युत्थान का प्रयोजन नहीं देखना अन्वेषण नहीं करना चाहिए कर्म करेगा तो प्रयोजन किस प्रयोजन के लिए कर्म करता है देखना व्युत्थान का प्रयोजन नहीं होता ये कहा एक नंबर टिप्पणी विद्यावती विद्यावती एवं अभिप्रे रहा वो विद्यावान में ही होता है त्याग ज्ञानी में त्याग है इसलिए कहा विद्यावती टीका अनुरोध हेतु विद्यावत इति अधिकम एवं प्रतिवादी टीका जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा विद्यावत पाठ ज्यादा लगता है केवल तच्च पुरुष धर्म इतना ही दिखता है तो पुरुष धर्म है विद्वान ऐसा दिखता है कहा टीका में कहते हैं दृष्टांत देते एक नहीं तमसी प्रविष्ट उदिते आलोके यद गर्त गर्त पंक कंटक आदि बदनम तत्किन प्रयोजन प्रश्न आरंभ कोई ये नहीं पूछता है कि तमसी प्रविष्ट अंधेरे में पड़ा हुआ व्यक्ति था उदिते आलोके और सूर्य भगवान उदय हो गए अंधेरे में पड़ा हुआ था कहीं गिर गया था कुछ हो गया था तो सूर्य का आलोक हो गया सूर्योदय होने पर जो गर्त कंटक आदि का पतन हुआ था सूर्यालोक से पहले वो क्यों हुआ ऐसा कोई नहीं पूछता ये प्रश्न योग्य नहीं होता और ज्ञान से हुआ है कोई कारण नहीं हुआ इसका यही कहना चाहते नहीं तमसी प्रविष्ट पुरुष से जो अंधकार में प्रविष्ट व्यक्ति है उसका उदिते आलोके सूर्य भगवान उदय होने पर यद गर्त पंग कंटक आदि पतनम जो अंधेरे में प्रविष्ट था मान खड्डे में पड़ गया या कीचड़ में गिर गया या कांटे पड़ घुस गए ये जो सब कुछ क्रिया हुई तब क्यों प्रयोजन क्यों हुआ ऐसा कोई प्रश्न योग्य नहीं होता अधेरे के कारण हो गया वैसे यहां भी जो कुछ कर्म हो रहा था अज्ञान के कारण हो रहा था अब प्रश्न नहीं होगा उसका वित्थान तरही अर्थ प्राप्त न चोदनार्हम यदि पूर्वादि बोलता है कि तब तो महाराज को विधि नहीं विधान नहीं हुआ वित्थान के लिए विधान नहीं हुआ विधि वाक्य नहीं संन्यास के लिए इसे अर्थ प्राप्त हुआ वो कर्माभाव को वित्थान कहते हैं कर्म कर रहा था कर्म छोड़ दिया वित्थान संन्यास हो गया तो वित्थान विधि वाक्य नहीं है अर्थ प्राप्त हो गया कर्म छोड़ने पर संन्यास नाम मिला वित्थान तरी अर्थ प्राप्त हुआ माने विधि विधि से प्राप्त नहीं अर्थ से प्राप्त हुआ होने से न चोदनार्थम विधि की वाक्य के योग्य नहीं हुआ वो विधि नहीं बनेगा विधि नहीं बनता है तो फिर क्या होगा गारेष्टे चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम तत्र अस्तु अपूर्वता आसनम न तो, तो अन्यत्र गमन विद्यत जब संन्यास विधि जन्य नहीं है अर्थ प्राप्त है विधि जन्य स्वर्ग आदि होते हैं स्वर्ग में ये देते विधि वाक्य जन्य होते हैं वो किंतु संन्यास के लिए ऐसे विधि वाक्य नहीं है विधि वाक्य न होने से संन्यास अर्थ प्राप्त है अर्थ प्राप्त में क्या होगा तब ऐसी स्थिति होने पर गृहस्थ में ही किसी व्यक्ति को परब्रह्म का ज्ञान हो गया गारस्ते चेत परब्रह्म विज्ञानम जातम उसी गृहस्थाश्रम में रहते रहते ज्ञान हो गया किसी को तत्र अस्तु अपूर्वत आसन फिर वहीं बैठा रहे संन्यास क्यों ग्रहण करेगा वो उसको संन्यास की क्या आवश्यकता है वहीं बैठा रहे तत्र अस्तु आसन वहीं रहे न तो अन्यत्र गमनम वहां से दूसरे आश्रमांतर में जाने की अपेक्षा नहीं संन्यास आश्रम जाने की अपेक्षा में अर्थ प्राप्त है वो भी तो अर्थ प्राप्त हो गया जब उसको ज्ञान हो गया उसी आश्रम में तो सन्यासी हो गया तो उसको संन्यास आश्रम में जाना वस्त्र वस्त्रादि धारण करना कोई आवश्यकता नहीं ये कोई पूर्वादि शंका करता है व्युत्थानम तरी अर्थ प्राप्त हो तो प्राप्त अर्थ प्राप्त होने से विधि न होने से न चौदह फिर विधि के योग्य नहीं हुआ गारस्ते चेत पर ब्रह्म ज्ञान जातम किसी को गृहस्थाश्रम में पर, परमात्मा का ज्ञान हो गया तो तत्र अस्तु अकुर्वत आश्रम गृहस्थाश्रम में बैठा रहे न तो, तो अन्यत्र गमनम संन्यास आश्रम में जाने की तो जरूरत नहीं इति चेत ऐसा पूर्व आदि बोले तो सिद्धांत करना हाँ, काम प्रयुक्त गारस्त गृहस्थाश्रम व्यस्त माने क्या होता है पुत्र वित्रादि पुत्र वित्रादि में अभिमान है इसलिए गृहस्थ कहते हैं अथवा अपना शिखा यज्ञोपवित आदि में अभिमान है इसलिए गिरस्त करते हैं यदि वो अभिमान है तो गिरस्त है फिर वो संन्यास हुआ ही नहीं उसका यदि अभिमान नहीं है तो संन्यास आश्रम में जाएगा वो बैठेगा यही कहना चाहते हैं काम प्रयुक्त गृहस्थ गृहस्थाश्रम काम प्रयुक्त है कैसे है एतावाम भाई काम वृद्धा में कहा इतना ही तो काम है यही काम है ऐसा कहा और उभे एते ये सड़े एवं ये जो साध्य साधन भाव में जो जाता है मैं अमुक हूं मुझे अमुक साधन से अमुक प्राप्त करना है आश्रम आदि में होता है जब अज्ञान दशा में है तो क्या ये दोनों ये स्वाई है इच्छा ही है वे ये थे साध्य साधन भाव जितने भी हैं ये स्वाई कहा इति अवधारणा काम निमित्त पुत्र वित्त आदि संबंध नियमा भाव मात्र एवं वित्थान वित्थान का अर्थ तो यही होता है कि इच्छा निमित्त जो पुत्र वित्त आदि संबंध है माने पुत्र मिल जाए वित्त मिल जाए इत्यादि का संबंध का नियम का जो अभाव है यही होता है संन्यास संन्यास करते हैं काम अनिवित्त पुत्र वित्त आदि संबंध नियमा भाव व्युत्थानम व्युत्थान का अर्थ यही होता है संन्यास का अर्थ होता है इच्छा निमित्त बन करके पुत्र की इच्छा वित्त धन की इच्छा आदि संबंध का नियम का जो अभाव हो उसी का नाम व्युत्थान नहीं तो अन्यत्र गमनम व्युत्थान उचित है इससे अन्यत्र जाना नहीं संन्यास मान यही होता है माने सारे यशाओं का परित्याग करना संबंध का परित्याग करना न हम कश्यचित न मे कश्चित विभाव आ जाए मेरा कोई नहीं मैं किसी का नहीं इसका नाम संन्यास होता है सारा संबंध काट देना ये, ये संन्यास का अर्थ होता है ना हम कश्यचित मैं किसी का नहीं हूं और न मे कश्चित मेरा कोई नहीं ऐसी कोई संन्यास का व्युत्थान कर ये कहा ततो न गारस्थ एवं अकुर्वता आसन उत्पन्न जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया तो गृहस्थाश्रम में न करता हुआ रहना फिर गृहस्थाश्रम नहीं रहेगा उसका गृहस्थाश्रम का होता अभिमान जहां होगा वहां गृहस्थाश्रम मेरे पुत्र है धन है ऐसे अभिमान होगा या मैं यज्ञोपवीति हूँ यज्ञोपवीति मेरे पास है शिखा मेरे पास है लिंग धारण होगा उसका अभिमान होगा तो लिंग का अभिमान माने मैं गृहस्थाश्रमी हूँ यज्ञ प्रवृत्ति मेरे पास है शिखा सूत्र मेरे पास है मैं गृहस्थाश्रम हूँ ऐसा लिंग रहा लिंग उसका अभिमान होगा या पुत्र आदि अभिमान होंगे उसके मेरे पुत्र है पत्नी है अमुक है या अभिमान होगा तो गृहस्थाश्रम ही रहेगा वो गृहस्थाश्रम ही होगा वो सन्यासी नहीं है ये कहना चाहते एक आता तो न गारस्थ एवं अपूर्वत आश्रम उत्पन्न विद्या से जो उत्पन्न विद्या वाला है जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया उसके गृहस्थाश्रम में न करता हुआ रहना बनता नहीं यदि नहीं करता है कुछ तो गृहस्थाश्रम नहीं हो गृहस्थाश्रम का अभिमान है तो फिर वो ये अपूर्वता नहीं हुआ उसमें कुछ कर रहा है वो ये स्थिति आ जाएगी कहते हैं ना गुरु शुश्रूषा तपसोर अभी अप्रतिपत्ति विदुषा जो विद्वत सन्यासी है वास्तव में उसके लिए गुरु शुश्रूषा गुरु की सेवा और तप आदि भी वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं है मैंने विहित शास्त्र विहित नहीं होता है उसके लिए क्यों तो सबको बात करके जिस तरह कुंडे पथि विचरता कोई भी को विषय ना वो तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में बैठा हुआ है सबको बात करके हम ब्रह्माष्ट में बैठा हुआ है यदि विविधिशु होगा तो उसके लिए तो गुरु शुश्रा आदि करना होगा गुरु सेवा आदि है किंतु विद्वत सन्यासी होगा उसके लिए ये भी अपेक्षित नहीं ये कहा एक दो की टिप्पणी एक में कहा ये देना कामाभाव है ना उसके ऊपर कामना नहीं है इच्छा नहीं है कुछ भी इच्छा ये सब पूरे समाप्त है उसके लोकेशवा वित्तेषणा पुत्रेश्वर तीनों ऐसा समाप्त है कामना भावे न अपरत्वेद में स्वाभिमानम अकर्तव्यता अभिमान पूर्वक कर्तव्य नहीं गुरु सेवा भी उसके लिए अभिमान पूर्वक कर्तव्य नहीं है तपस्या भी अभिमान पूर्वक कर्तव्य नहीं ऐसा कहा ठीक है सर पांत लक्षणाया कहा था अविद्या काम दोष निमित्त आया मनम पांग मन का आय प्रवृत्ति पांच लक्षण आया विदुषो अविद्यादि दोषाभावात अनुपत्य क्रिया भाव मात्र व्युत्थानम ऐसा कहा था क्रिया कर्म का अभाव माने व्युत्थान का संन्यास का कर्म का अभाव होना इतना ही है क्यों उसके जो प्रवृत्ति के कारण उसके पास नहीं है ज्ञानी के पास अविद्या काम नहीं है अविद्या भी नहीं अविद्या जन इच्छा भी नहीं है प्रवृत्ति के कारण ही होते हैं इसलिए ज्ञानी को अविद्यादि दोष के अभाव होने के कारण से क्रिया का अभाव कर्म का अभाव मात्र वित्थान ने कहा था इसी का अर्थ करते हैं पांत लक्षण आया कहा था उसका जाया पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त कर्म भी पंचवीर लक्ष्यते साध्यते इति वैदिकी प्रवृत्ति पांच लक्षण उच्चते जो वैदिक प्रवृत्ति है उसको पांत पांत बोलते हैं पांत लक्षण यानी लौकिक कर्म में पांच होना आवश्यकता नहीं है वैदिक कर्म करने में पांच की आवश्यकता है यज्ञादि करना हो वैदिक कर्म करना हो पुत्र की आवश्यकता है पत्नी की आवश्यकता है हाँ, दैव वित्त मानुष वित्त वो आदि मानुष वित्त है उपासना आदि दैव वित्त है ये सब है टीका जाया पत्नी पुत्र है दैव वित्त उपासना आदि और मानुष वित्त गो आदि दान करना पड़ेगा गाय दान आदि करना पड़ेगा उसमें हाँ, वित्त कर्म भी इन कर्मों के द्वारा पंचवीर लक्ष्य के पांच के द्वारा लक्षित होता है एक तो स्वयं यजमान रहेगा एक पत्नी रहेगी पुत्र रहेगा वृत्त मानस तो पांच होते हैं इनके द्वारा वैदिक कर्म संपन्न होते हैं वैदिक याग आदि संपन्न होते हैं पंचवीर लक्ष्य थे माना साध्य थे पांच के द्वारा सिद्ध होता है इसलिए वैदिकी प्रवृत्ति को पांच का लक्षण बोला जिसको पांच स्वरूप बोलते हैं पांच से सिद्ध होता है इसलिए पांच का कहा वैदिक कर्म पंच संख्या योगे न गौणिया प्रत्या पंक्ति छंद संबंध उपचारात पंचाक्षरा पंक्ति पांचो एक श्रुते ये पांत क्यों कहा पंचत्व संख्या का योग है संबंध है जैसे पंक्ति छंद में प्रत्येक पादों में पांच अक्षर होता है वैसे ही इस यज्ञ में भी पांच है यजमान है पत्नी है और पुत्र है दैव वित्त मानुष पांच है उसके संबंध पंक्ति संबंध पंक्ति छंद का संबंध पंचत्व संख्या का संबंध होने से इसको पांत कहा पंक्ति संबंधी होने से पांत एकदम से अण लगाया हुआ है ये कहा पंच संख्या योगे राम पांच संख्या का संबंध होने से पांच व्यक्ति है वहां गौणिया वृत्तिया गौण वृत्ति से पंक्ति छंद संबंध उपचारा हाँ, ये पंक्ति छंद के संबंध से पंक्ति छंद में पांच अक्षर होते हैं एक बात उस उसके संबंध से पंचाक्षरा पंक्ति ऐसा आया है पांच अक्षर वाली पंक्ति छंद होता है जैसे अनुष्टुप छंद होता है जगतिक छंद होता है त्रिष्टुप छंद होता है वैसे पंक्ति छंद है वो पांच अक्षर का एक पाद होगा पांतो यज्ञ यज्ञ भी पांत है पांच संबंधी है इसलिए पांत का पंक्ति शब्द से अण करेंगे तो पांत बन जाएगा तो ये स्मृति है कहा अच्छा पांत लक्षण आया पंच संख्या में दो की टिप्पणी है पहले दो की टिप्पणी मानो पंचवीर लक्ष्यते पंच लक्षण से ये पांत लक्षण कैसे होगा पांच के द्वारा लक्षित होता है तो पंच लक्षण बोलना चाहिए पंचम शब्द लक्षण शब्द का समास होना चाहिए ये पांग तक ऐसे बन गया ये शंका है पंचवीर लक्ष्यते थी पंच लक्षण इति श्याद पांग लक्षण इति कुत पंच संख्या पंच संख्या के संबंध उनसे पांग बोला एक पंचत्व संख्या पंक्ति पंक्ते संबंधी पांगतम भवती पंक्ति संबंध को पांगत कहते हैं तस्य इदम से अप्रत्यय लक्ष्य होता है तस्य पंक्ति द्वारा एवं उक्त संख्या योगा पंक्ति छंद के माध्यम से ही पांच संख्या का योग है पंक्ति छंद पांच अक्षर का ये भी पांच अक्षर का तदरूपया गौण लक्षण उसे गौण वृत्ति से कहा लक्षण वृत्ति से पंक्ति संबंधा वत्ता उपचारादेव पंक्ति संबंधा वत्ता को उपचार के ही पांक लक्षण की व्यवहार है विभाग ये कहा आगे कहते हैं टीका में पांक लक्षण आया यदि अनंतरम अनुपत्य अनुसंधान भाष्य में जो पांक लक्षण आया पद है इसके आगे अनुपत्य क्रिया का अन्वय कर देना अविद्या काम निमित्त आया बामन काय प्रवृत्ति पांच लक्षण आया अनुपत्ते है ऐसा आया ज्ञानी से ये हो नहीं सकता है क्यों विदुषो अविद्या दोषाभावात अनुपत्ति ज्ञानी में अविद्यादि दोष नहीं है अज्ञान आदि नहीं है इसलिए पांच लक्षण कर्म करना संभव नहीं ये कहा ठीक है व्युत्थान इति अनंतरम अयत्न सिद्धम इति शेष आगे कहा था क्रियाभाव मात्र व्युत्थान उस ज्ञानी के लिए तो कर्म का अभाव मात्र व्युत्थान बिना प्रयत्न सिद्ध व्युत्थान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता हाँ कर्म करते करते चुप हो जाना ये व्युत्थान है कर्म छोड़ देना ये व्युत्थान है छोड़ना माने कुछ कर्म नहीं हो करने के लिए कर्म होता है छोड़ना कोई कर्म नहीं होता यही है तो कहा व्युत्थानम यदि अनंतरम जो भाष्य में व्युत्थान पद है उसके आगे अयत्न सिद्धम बिना प्रयत्न सिद्ध है व्युत्थान उसका कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा चेष्टा नहीं एवं च क्रिया भाव से औदासीन्यात्मक पुरुष स्वभाव अयत्न सिद्धत्व स्त्री प्रयोजना प्रयोजनापेक्षा न प्रयोजनापेक्षा इत्या कहते हैं इस प्रकार क्या हुआ क्रिया कर्म का जो अभाव है क्रिया भाव माने कर्म का अभाव क्रिया भाव से औदासीन्यात्मक वो उदासीन स्वरूप अभाव है उदासीन होकर बैठ जाना कुछ नहीं करना इष्टानिष्ट बुद्धि कुछ भी नहीं है ऐसे करके रहना औदासीन न्याय प्रकाश क्रिया के अभाव जो है उदासीन रूप है वो होने से पुरुष स्वभाव वो पुरुष के धर्म ही है उस व्यक्ति का धर्म रूप होने से अयत सिद्धत्व सती न प्रयोजनापेक्षा इसलिए कोई प्रयोजन की अपेक्षा वहां नहीं है तच्च कहा तच्च विद्यावत पुरुष धर्म वो ज्ञानी पुरुष का धर्म ही है वो विद्युत्थान इति न प्रयोजन अन्वेष्टव्यम राशि में कहा था इसलिए प्रयोजन के अन्वेषण नहीं करना चाहिए कहा पुरुष धर्म का अर्थ होता है पुरुष स्वभाव पुरुष स्वभाव ही हो विद्वान ये कहा क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही हो आत्मा सुसुप्ति काल में किसी के साथ संबंध नहीं करता तूर्य काल में कहां से करेगा संबंध उसका स्वभाव ही हो विद्वान ये जागृत स्वप्न ही सारा संबंध है स्वप्न जो संबंध जो होता है जागृत स्वप्न है उसका स्वभाव अपना स्वभाव सुसुप्ति में दिखाई पड़ता है कोई किसी के साथ संबंध नहीं उसका कोई कर्म नहीं होता वहां अज्ञान कार्य से अज्ञान निवृत्त अयत्नता एवं निवृत्ति दृष्टान अज्ञान का कार्य जो है अज्ञान की निवृत्ति होने पर बिना प्रयत्न उसकी निवृत्ति हो जाती कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति स्वतः अज्ञान का जो कार्य होगा अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान के कार्य की निवृत्ति के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा धागा को जला देंगे तो कपड़ा अपने जल जाएगा कपड़ा जलाना नहीं पड़ेगा ऐसी स्थिति हो जाएगी जब अज्ञान मिट जाए तो अज्ञान का कार्य स्वतः मिटेगा इसके लिए दृष्टांत दिया दृष्टांत देते हैं कहा अज्ञान कार्य से अज्ञान निवृत्त हो अयत्न एवं अयत्नता एवं निवृत्ति अज्ञान के जो कार्य है वह अज्ञान की निवृत्ति होने पर बिना प्रयत्न निवृत्ति हो जाते अज्ञान कार्य इसमें एक दृष्टांत कहते हैं नहीं कहा नहीं तमसी प्रविष्ट जो अंधेरे में प्रविष्ट व्यक्ति था अंधेरे में पड़ा था कोई कीचड़ में पड़ा या कांटे चुभा या खड्डे में गिरा किंतु उदित आलोके सूर्योदय होने पर अज्ञान वहां अधेरे में गिरा था बाद में सूर्योदय होने पर ऐसा प्रश्न नहीं करेगा कि किस कारण से ऐसा हुआ ऐसा प्रश्न नहीं करता ये कहा नहीं तमसी प्रविष्ट से उदित आलोके यद गर्त पंक कंटकादि पतनम कंटकादि अपतनम मैं क्यों नहीं गिरा ऐसा नहीं पूछता अज्ञान में कांटे में क्यों नहीं पड़ा बैठा हुआ था अंधेरे में सूर्योदय होने पर मैं क्यों कांटे में नहीं गिरा खड्डे में क्यों नहीं गिरा कांटे में क्यों नहीं पड़ा ऐसा प्रश्न नहीं करेगा या गर्त पंख कंटक आदि अपतनम जो गर्त कंटक पतन आदि का नहीं होना क्या, क्या प्रयोजन है ऐसा नहीं पूछेगा कोई कोई भी नहीं पूछता यदि न प्रश्न आ रहा ऐसा नहीं होता है ठीक है व्युत्थान से भावे विधेयर अनवकाशात विदुषो नियम है व्युत्थान न संगत पूर्वादी शंका करता है कि त्याग संन्यास है व्युत्थान कर्म परित्याग करना जो संन्यास है पुन व्यापाराधीन पुरुष के व्यापार यदि नहीं है व्युत्थान स्वतः हो जाना है वो व्युत्थान स्वतः हो जाता है व्यापार नहीं कर्म करने के लिए व्यापार होता है व्युत्थान मैंने त्यागने के लिए व्यापार नहीं है तो व्युत्थान से व्यापार अधीनत्वा भावे पुरुष के व्यापार का अधीन का अभाव होने पर विधेयर अनवकाश विधि वाक्य नहीं लगे विधि वाक्य तो किसी व्यापार कराने के लिए है स्वर्ग का वो यजेता विधि वाक्य सुनेगा उसके व्यापार होगी इत्यादि करने लग जाएगा विधि के अवकाश होने से विदुषो नियम उत्थान सिद्ध फिर ज्ञानी का नियमता व्युत्थान होना संभव नहीं क्यों विधि वाक्य नहीं वहां अर्थ प्राप्त है वो ये कहा व्युत्थान तरही अर्थ प्राप्त न चोदरा हम ये पूर्वाज ने कहा था जो वित्तान है संन्यास है अर्थ प्राप्त विधिजन्य नहीं है वो होने से मानी विधि का योग्य नहीं है जब विधि का योग्य नहीं है तो किसी व्यक्ति को संन्यास लेना ही पड़ेगा कोई नियम नहीं है गृहस्थ में तो आत्मज्ञान हो गया तो वहीं बैठा रहे उसको संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता है जब विधि नहीं है तो ये पूर्वादि की संख्या गारस्थे चेत परम्परम विज्ञान जातम जब विधि वाक्य नहीं है किसी वाक्य को आश्रम में ब्रह्म ज्ञान हो गया तत्रैव अस्तु अकुर्मत आश्रम वही रह जाए वो दूसरे आश्रमांतर में जाने की क्या जरूरत है उसकी विधि वाक्य होता संन्यास आश्रम जाना था किंतु विधि वाक्य नहीं है न तथो अन्यत्र गमनम फिर वहां से अन्यत्र माने संन्यास आश्रम में प्रवेश की आवश्यकता नहीं दिखता है जब विधि नहीं है तो ये पूर्वाजी ने कहा सिद्धांति उत्तर देंगे न करके ठीक है माने तथो अन्यत्र गमनम माने पारिवाज्य स्वीकार मैंने संन्यास धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है उसको गृहस्थाश्रम में किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया वही पड़ा रहे वो गृहस्थाश्रम में रहे विधि होता संन्यास धर्म ग्रहण करना है ऐसा विधि होता तब तो जाना था उसने संन्यास आश्रम में विधि तो है ही नहीं अर्थ प्राप्त है अर्थ प्राप्त होने पर जब क्या होगा तो पारिप्राय स्वीकार नहीं होगा उसको उसी आश्रम बैठा रहेगा गृहस्थ आश्रम में ऐसा पूर्वादी की शंका तो सिद्धांत भी प्रश्न करते हैं गृहस्थ शब्द से क्या कहना चाहते हैं गृहस्थ माने क्या सिद्धांत प्रश्न करते हैं ठीक है क्यों गार्यस्थ शब्द ना गृहस्थो अहम इति अभिमान पुरुषरम पुत्र वित्तादि अभिमान उच्चते गार्यस्थ शब्द के द्वारा क्या कहना चाहते हो कि गृहस्थो अहम ऐसा अभिमान है मैं गृहस्थ हूं अभिमान पूर्वक पुत्र वित्तादि अभिमान मेरे पुत्र है धन है मैं गृहस्थ हूं ऐसा अभिमान पूर्वक बैठा है वो वहां उस आश्रम में आत्मज्ञान होने के बाद ऐसा है उत गृहस्थ लिंग धारणम अथवा गृहस्थ आश्रम के चिन्ह धारण करना गृहस्थ आश्रम का चिन्ह मसरू आदि शिखादि शिखादि रखना भूस आदि रखना जैसे गृहस्थ आश्रम का चिन्ह है गृहस्थ लिखना माने मस्त्र शिखादि इत्यादि पवित्र आदि रखना मैं अभिमान मैं गृहस्थ आश्रम ही हूं कहना क्या कहना चाहते दो में से गृहस्थाश्रम का अर्थ क्या कार्यस्थ शब्द का अर्थ मैं गृहस्थ हूं माने मेरे पुत्र वित्त आदि है ऐसे विमान करना गृहस्थ गार्यस्थ है अथवा गृहस्थाश्रम का लिंग में अभिमान करना लेकिन मानी परिचय जो होते हैं गृहस्थाश्रम आश्रम जो जाना जाता है शिखा सूत्रादि के द्वारा उसमें अभिमान है तो सिद्धांत कह रहे हैं नाद्य गृहस्थो हम जब कहेगा तो फिर पारिव्राज्य नहीं होगा उसका उसका संन्यास नहीं कहलाएगा ये कहते हैं नाट्य विद्या अविद्याकारी अभिमान अनिवृत्ति विद्या अविद्याकारी अभिमान निवृत्ति उस काल में उसको ये यदि ज्ञान हुआ है तो ये नहीं होगा अभिमान नहीं रहेगा क्यों ज्ञान के द्वारा अविद्या का कार्य जो अभिमान है निवृत्ति हो जाती है यदि अभिमान है तो उसको अविद्या गई नहीं अभी अविद्या है अभिमान लिया हुआ है मैं गृहस्थ हूं अभिमान है मेरे पुत्र वित्तादि है संबंधी है कहेगा तब तो अविद्या है उसके पास ज्ञान हुआ ही नहीं उसको तो गृहस्थ में ज्ञान कैसे होना फिर यदि ज्ञान हुआ होता तो अभिमान नहीं होता ये कहा सिद्धांत ने कहा कि नाद्य पहले वाला हो नहीं सकता गृहस्थो हम अभिमान होना और ब्रह्म ज्ञान होना संभव नहीं नहीं होता क्यों विद्या या अविद्या कार्य अभिमानी प्रत्येक क्यों विद्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा अविद्या का कार्य जो अभिमान था मैं गृहस्थ हूं निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति होगी तो फिर वो गृहस्थाश्रम भी रहा ही नहीं हो वो तो पारिवराज्य होगा उसका ठीक है इसलिए न काम प्रयुक्त गृहस्थ जो अभिमान हो रहा है वो कामना से है काम प्रयुक्त है गृहस्थाश्रम एतावान वही कामा ऐसा कहा उभे हेते ऐसा एवं ये दोनों के दोनों साध्य साधन लक्षण जहां भी है वो ऐसा ही कहा हुआ है इति अवधारणात आया ठीक है देखें न द्वितीय द्वितीय भी नहीं गृहस्थाश्रम का चिन्ह में अभिमान है शिखा सूत्र आदि में अभिमान है ऐसा ऐसा को गृहस्थ का है तब ये अभिमान होगा तो अविद्या का कार्य रह गया अविद्या रह गई तभी तो अभिमान हो रहा है ये कहते हैं लिंगे भी अभिमान राहित्य से तुल्य लिंग शिखा सूत्र आदि में अभिमान होने पर भी अभिमान रहित होना था अभिमान सहित है वहां मैं गिरस्त आश्रम ही हो मेरे शिखा सूत्र है अभिमान है उसका समान है इसके मतलब अविद्या गई नहीं वहां फिर ज्ञान होना संभव ही नहीं ज्ञान हुआ ही नहीं ज्ञान हुआ होता तो अभिमान नहीं होता न उसके गृहस्थाश्रम के परिचय जो आदि में अभिमान होता मैं गृहस्थी हूं करके अभिमान होता न उसके गृहस्थाश्रम के जो चिन्ह है शिखा सूत्र आदि उसे अभिमान होता अभिमान है तो ज्ञान हुआ ही नहीं तो ज्ञान नहीं हुआ है तो पारिप्राज्य हुआ ही है उसका भी यही कहते तीन नंबर टिप्पणी में कहा लिंगे के ऊपर में कहा लिंगे भी कहा पुत्र वित्ताद इव तत्रापि विमान अभावादेव तत्धारण भी असंभवी ये कहा कि पुत्र वित्तादि में से अभिमान नहीं होता विज्ञान होने पर उसी प्रकार तत्रापि मैंने उस लिंग में भी शिखा सूत्र आदि में भी अभिमान भाव अभिमान का भाव होने से तद धारण में भी असंभव फिर शिखा सूत्र धारण करना भी संभव नहीं है तो शिखा सूत्र धारण में तो गृहस्थ नहीं हो उस काल में और गृहस्थाश्रम में रहना तो शिखा सूत्र धारण किया होगा तो अभिमान है फिर वो ज्ञानी नहीं है अविद्या है वहां ये सिद्ध होता है एक <coughs> आगे ठीक है न तो एवं पारिप्राज्य लिंगे भी अभिमान भावात तस्या असिद्धि कहते हैं इसी प्रकार देखो जैसे उसका अभिमान नहीं है गृहस्थाश्रम में हो गए गृहस्थाश्रम नहीं कह पाया वो परिप्राजक होता है इसी प्रकार जिस वो सन्यासी बन गया तो सन्यासी का जो लिंग होगा काशाय वस्त्र आदि चिन्ह होगा लिंग माने चिन्ह लीनम अर्थम गमयती लिंगम तो छिपा हुआ विषय उसको बताने वाले को लिंग बोलते हैं जैसे पर्वत में अग्नि का परिचय धूम होता है धूम को लिंग बोलते हैं तो अग्नि वहां दिखाई नहीं पड़ती है धूम है तो अग्नि है ज्ञान होता है ये वस्त्र पहना है तो यह आश्रम यह ज्ञान होता है ये आदि भी लिंग होते हैं परिचायक होते हैं इसे कहा पूर्वादि कहता नचे एवं इस प्रकार जब गृहस्थ में वस्त्र में अभिमान है तो वो सन्यासी नहीं है कहा इसी प्रकार नचे पारिप्राज्य पारिप्राज्य लिंगे भी अभिमान अभाव जो सन्यासी है उसको भी तो पारिप्राज्य लिंग जो काशाय वस्त्र आदि है उसमें अभिमान नहीं है उसका जो विद्वत सन्यासी किसी में अभिमान नहीं न होने से तस्या पे असिधि काशाय वस्त्र क्यों धारण करता है फिर वो उसका अभिमान नहीं है सन्यासी का किसी में अभिमान नहीं है फिर उस लिंग का अभिमान नहीं है कि धारण क्यों करता वस्त्र को यह पूर्वादी की शंका है न जेवम पारिप्राज्य लिंग भी जो परिप्राज्य का लिंग है काशा है आदि जो भी लिंग है शिखा सूत्र छेदन आदि है जो भी है लिंग है उसका ज्ञापक है ऐसा देखने पर सन्यासी बोलते हैं उसको इसमें भी अभिमान नहीं है उसको तो अभिमान का अभाव है वो ज्ञानी है तो फिर तस्य आती असिद्धि फिर उसके लिए की भी असिद्धि होगी क्योंकि नवाच्यम सिद्धांत कहते हैं नहीं कहना ऐसा क्यों सर्वतो भी अभिमान राहित देना किसी में भी अभिमान नहीं उसका जो सन्यासी होगा उसको कहीं भी अभिमान नहीं है मैं सन्यासी हूं ऐसा भी अभिमान नहीं है जो विद्वत सन्यासी है उसको यह भी अभिमान है सर्वतो अभिमान राहित ना सर्व संबंध राहित्य लक्षण ये परमहंस परिद्राज लक्षण वो तो सर्व संबंध रहित है वो कोई संबंध रहित कोई भी संबंध रहित लक्षण ये परमंश पर, इसी का नाम होता है लक्षण न लिंग धारण कोई चिन्ह धारण करना परमहंस परिप्राजक का लक्षण नहीं होता मुख्य बात यह है ठीक है सर्वतो भी अभिमान राहित्य न किसी में भी अभिमान न होने से सर्व संबंध राहित्य लक्षण माने वस्त्र आदि का संबंध से भी रहित है अभिमान नहीं उसका भी सर्वसम्मत संबंध का रहित लक्षण ही परमाश परिव्राजक होता है ये लक्षण होता है न लिंग धारण लिंग धारण परिव्राजक नहीं होता ये कहा पांच चार की टिप्पणी में कहते हैं मुख्यम पारिप्राज्य में मुख्य पारिप्राज्य यही है माने विद्वत सन्यासी का लक्षण ऐसा होता है वस्त्र आदि में भी अभिमान है उसका नहीं होता हाँ, वस्त्र आदि में अभिमान रखने वाला कौन है विविधिशु सन्यासी होगा विद्वत सन्यासी नहीं विविधिशु अभी विविधिशा है उस आत्म तत्व की जानने की इच्छा आत्मज्ञानी हुआ नहीं है तो उसके लिए आश्रम धर्म का पालन सब अभिमान होगा आश्रम धर्म का अभिमान होगा विविधिश सन्यासी के लिए विद्वत सन्यासी के लिए मुख्य लक्षण यही है न लिंगम धर्म कारण कहा है चिन्ह जो होता है धर्म का कारण नहीं होता है लिंग मानी चिन्ह चिन्ह धर्म का कारण शरीर के वेशभूषा आदि धर्म के कारण नहीं होते धर्म का कारण आपके मनोवृत्ति है मनोवृत्ति कैसी बनी हुई है शरीर के वेशभूषा में ये तो लोक के लिए दिखाया जाता है एक न लिंगम धर्म कारणम स्मृति ऐसे स्मृति में कहा है धर्म कारणम पांच की टिप्पणी में कहते हैं अच्छा। न मुख्यम टिप्पणी बच गई चार चार की मुख्यम पारिप्राज्य लिंगम तो तस्य में परिचायक जो लिंग धारण करता है वस्त्रादि धारण करता है सन्यासी उसी का परिचायक है परिचायक शास्त्र शास्त्र उत्तत्व मात्र न ध्रियवाण शास्त्र ने कहा है इसलिए पहन लेता है बसना चिन्ह बनाता है न अभिमान आलम्बते वाला अभिमान का आलम्बन नहीं करता वो बसता भी उसका मुख्य सन्यासी वस्तु तो विविदेशो रेव लिंग धारण में वो कहते हैं ये जो सन्यासी दो प्रकार के हैं विद्वत सन्यासी और विद्युष सन्यासी ये जो चिन्ह धारण करना और काशाय वस्त्र आदि पहनना आदि जो होता है विविदिशु के लिए विद्वत के लिए वस्तुता वास्तव में विदुष रेवलिंग धारण है वो न विदुष अभिप्राय विद्वत सन्यासी के लिए वस्त्रादि धारण का भी कोई नियम नहीं तो यही वस्त्र पहनना पड़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं इसका पांच में कहा न लिंगम धर्मकारण मुख्यम लक्षणम इति आवत माने लिंग धारण करना मुख्य लक्षण नहीं है माने आभूषण शरीर के वेशभूषा आदि मुख्य कारण नहीं है मुख्य कारण दूसरा ये भीतर के समदमा उपरति आदि मुख्य कारण होते हैं उसके लिए ये कहा हुआ है अच्छा ठीक है मैं कहते हैं तथा से लिंगे भी अभिमान से निश्चय पारिप्राज्य सिद्धम तो शरीर आदि के चिन्ह आदि में भी लिंग माने चिन्ह परिचय जो होते हैं वस्त्र आदि उसमें भी जो अभिमान शून्य होगा वही मुख्य परिप्राजक होता है और विद्वत सन्यासी वही होता है कहीं भी अभिमान नहीं जिसका वही मुख्य सन्यासी होता है ये कहा इसलिए क्या काम निमित्त इत्यादि कहा था काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध निमा भाव मात्र एवं उत्थान एक अभ्युत्थान शब्द का अर्थ होता है जो कामना के निमित्त के कारण से पुत्र वित्तादि में जो संबंध होता था उस संबंध का नियम का अभाव मात्र ही मुख्य संन्यास होता है किसी में भी संबंध न होना यह मुख्य संन्यास का व्युत्थान का लक्षण होता है व्युत्थान माने संन्यास नहीं तथो अन्यत्र गमनम व्युत्थान होते मुख्य संन्यास माने कामनाओं को छोड़ना ही मुख्य संन्यास है उससे अन्यत्र जाना मुख्य संन्यास नहीं होता या अन्यत्र जाना संन्यास आश्रम स्वीकार करना आदि जो होता है ये तो विविशु सन्यासी के लिए है विद्वत सन्यासी के लिए कोई वो नहीं वो तो जो था छोड़ दिया वही सन्यासी है वही है ऐसा आ गया टीका कहते हैं Thank you. न तत्वकार वक्र आश्रम उपलब्धि इसलिए इसलिए गृहस्थाश्रम में न करता हुआ रहना बनता नहीं है क्यों गृहस्थाश्रम का अभिमान यदि है तो अज्ञान है उसके पास अभी और ब्रह्मज्ञानी नहीं है ब्रह्मज्ञानी है तो वहां रहना बनता नहीं है सबको संबंध त्यागना पड़ेगा उनके संबंध करके कैसे रहेगा वो इसलिए गृहस्थाश्रम में ब्रह्मज्ञान होने पर रहना संभव है संभव नहीं होता मानी ब्रह्मज्ञान होता ही नहीं अभिमान है तो होता ही नहीं हुआ तो वहां रहेगा नहीं ब्रह्मज्ञान हुआ है तो संबंध कटेगा सबका मैं गृहस्थी में अभिमान भी नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो सन्यासी बन जाएगा क्या आता आएगा कहा था ठीक है हो जाता इसका गारस्थ्य बने क्या होगा अभिमानात्मक इत्यर्थ गृहस्थाश्रम अभिमानात होगा गृहस्थाश्रम में बोलने पर अभिमान है वो मैं गृहस्थ हूं अभिमान होगा तभी गारस्थ्य बोला जाएगा उसको यदि अभिमान नहीं है तो सन्यासी है वो फिर वो आराना बनेगा नहीं मैं गृहस्थ हूं कहा ना फिर अभिमान है वो इसलिए अज्ञान है उस काल में कहा छह नंबर की टिप्पणी लिंग धारण से आप अभिमानाधीन निराशो की अतएव भाव लिंग धारण भी अभिमान का अधीन है मैं सन्यासी हूँ अमुक हूँ गृहस्थ हूँ जो भी हो शिका सूत्रादि रखना भी क्या अभिमानी तो है वहाँ अभिमान होने से लिंग धारण से आप अभिमानाधीन अभिमान का अधीन से तम निराश इसलिए उसका भी खंडन है यहाँ वो भी सन्यासी नहीं होता मुख्य सन्यासी मुख्य सन्यासी मैंने विद्वत सन्यासी ज्ञानोत्तर सन्यासी वो नहीं होता तस्यापी इतिहावत कहा अच्छा अच्छा तस्यापि विवक्षितत्व अविशेषा विवाह उसको भी लिंग धारण तो विवक्षित अविशेष समान है उसका ये कहा आगे टीका देखिए तरी गुरु शुश्रूषालो अभी हो न तब महाराज किसी में भी अभिमान नहीं होना चाहिए गुरु सेवा में भी अभिमान नहीं होना चाहिए तपस्या में भी अभिमान नहीं होना चाहिए कहा विद्वत सन्यासी के लिए कोई आवश्यकता नहीं ज्ञानोत्तर यदि संन्यास है पहले ज्ञान हो चुका है उसके बाद संन्यास है उसके लिए कोई मुख्य नहीं होता यही कहना चाहते हैं कहा शंका को क्या बोलते हैं कहते हैं तरी गुरु शुश्रा अभिमान हो नश्यात इति आशंका इष्टापत्ति इत्यादि ठीक है वहां भी अभिमान नहीं रहेगा उसका इसलिए कहा ये तेना गुरु शुश्रा शुश्रूषा तपसोपी अप्रतिपत्ति विदुषा जो विद्वत सन्यासी है ज्ञानोत्तर सन्यासी इसका है उसके लिए गुरु सेवा भी मुख्य नहीं होता और जो तपस्या है समाधमादि वो भी मुख्य नहीं है उसका वो तो जो कुछ करना पहले कर चुका है ठीक है ननु यथा पुत्र पुत्रादि संबंध नियम रहित त्वन मते देह धारणार्थिनो भिक्षु परिग्रह तो भिक्षाटनादिना एवं नियमो अंगीक्रिय तथा गृहस्थ्या अभिमान शून्य से सतो देह धारणार्थ एवं गृह एवं आसन अस्तु अस्तु आसनम न भिक्षुकत्म विशेष अविशेषात इच्छा पूर्वादि जो गृहस्थ आश्रम में रहना चाहता है कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहता है कोई युक्ति देकर के बोलना चाहता है क्या बोलता है न यथा पुत्र पुत्रादि संबंध नियम रहित संन्यास आश्रम का नियम क्या है पुत्रादि के साथ संबंध नहीं होना चाहिए पुत्रेश वहां लोकेश वहां पितेश वहां से ऊपर होना चाहिए संन्यास आश्रम का जैसे नियम है यथा पुत्र आदि संबंध नियम रहित पुत्र आदि के संबंध के नियम से रहित श्यापित्वन मत है ऐसे व्यक्ति जो होगा सन्यासी होगा तुम्हारे वेदांति के मत में देह धारणा थिनो देह धारण करना चाहता है और पुत्र आदि के साथ कोई संबंध नहीं है शरीर रक्षा करना तो भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन करेगा भिक्षु हो भिक्षु का परिग्रह व्यापनार्थ परिग्रह न हो जाए जीवन में इसलिए क्या करता है भिक्षाटनादिनादि नियमों अंगीकृत भिक्षाटन करके जीवन यापन कर रहा है नहीं तो संग्रह करने लग जाएगा तो बहुत कुछ परिग्रह हो जाएगा परिग्रह होने पर फिर उसी की रक्षा की चिंता में मर जाएगा वो साधन नहीं कर पाएगा इसके लिए भिक्षाटन के द्वारा ही नियम है पुत्रादि के साथ संबंध नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए के लिए परिग्रह की व्यावृत्ति करने के लिए क्या कहा नियम बना दिया भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन यापन करें ऐसा नियम बनाया हुआ स्वीकार किया जाता है आपके यहां वेदांतियों के यहाँ ठीक है सन्यासियों का ऐसा नियम किया जाता है कहा सात नंबर टिप्पणी भिक्षाटनादिना एवं वृत्ति कुरियाद इतवा रूपो नियम है नियम होगा भिक्षाटनादि के द्वारा ही वृत्ति यापन करे जीवन यापन करे परिग्रह व्यावृत्ति के लिए ऐसा कहा तो पुत्र आदि के साथ संबंध कटा हुआ है वहां रहा नहीं देश छोड़ दिया गांव छोड़ दिया दूर चला गया है तो अब क्या करेगा मान देह धारण करने के लिए प्राण धारण के लिए भिक्षाटन आदि के द्वारा वृत्ति करे जीवन यापन करे ये नियम बनाया जाता है सन्यासी के लिए जैसा उसी प्रकार तथा गृहस्थ श्यापी अभिमान शून्य से गृहस्थाश्रम में बैठे हुए भी गृहस्थाश्रम ही हो अभिमान नहीं हो उसका पुत्र आदि के साथ अभिमान नहीं है मेरे ये पुत्र है पत्नी है अभिमान नहीं है गृहस्थाश्रम गृहस्थ श्यापी अभिमान शून्य शैव जो अभिमान शून्य गृहस्थ होगा उसका भी सत्व ऐसा होता हुआ देह धारणार्थम शरीर रक्षा के लिए गृह व अस्तु आसन भिक्षा वही खाने मिल जाएगा वही रहे वो क्यों संन्यास आश्रम में क्यों जाना उसमें इतने करके रहे गृहस्थाश्रम में होने पर भी गृहस्थ्यापी अभिमान शून्य से गृहस्थाश्रम का अभिमान नहीं है वहां रह रहा है तो देह धारणा का देह धारण तो करना है उसको जैसे सन्यासी को भी पुत्र आदि के साथ संबंध में होने पर देह धारण के भिक्षा तनादि नियम रहेगा इसके लिए तनादि वहीं के भिक्षा खाए घर की भिक्षा खाए नियम यही होगा देवदारणाथम गृह वस्तु आश्रम घर में रहता भिक्षुकत्व भिक्षुक भिक्षु सन्यासी नहीं बने अविशेषा समान है नियम तो माने शरीर रक्षा के लिए कुछ तो चाहिए उसने भी गृहस्थाश्रम का अभिमान छोड़ा था इसलिए वो भिक्षाटन के द्वारा निर्वाह कर रहा है वे भी गृहस्थाश्रम को अभिमान छोड़ा हुआ है भिक्षाटन नहीं चाहता है भय है उसको डर है मांगना मुश्किल होता है इसलिए वही बैठ के खाना चाहता है खाने तो सन्यासी क्यों बनेगा वो ये शंका है ये शंका अविशेषात आठ की टिप्पणी का अविशेष मान क्या है कि नियम दो भी अभिमान रहते सन्यासी पुत्र पुत्र पिता आदि में अभिमान शून्य है अब ये भी वैसे आश्रम में रहते हुए भी अभिमान शून्य है सन्यासी के बराबर है ये ऐसा होने से हाँ, तो कहा देश आराम उससे तुल्य अभिमान रहित को तो दोनों में है और देह धारण की भी दोनों चाहिए दोनों को चाहिए इसलिए वो भिक्षाटन करेगा या घर में बैठ के खाएगा इतना ही तो फर्क पड़ना है तो घर में रहेगा क्यों सन्यासी बनेगा ये शंका है ये शंका कार्य पूर्ववादी करता है शंका करता है कि अत्र केचित गृहस्था कुछ गृहस्थ लोग भिक्षाटनादि भयात भिक्षा मांग के खाना बड़ा मुश्किल है कई जगह गाली सुननी पड़ती है कितना हत्या करता है मांग के खाता है शर्म नहीं है ऐसे बोलने वाले भी हैं कहीं नहीं सत्कार पूर्वक भी देंगे ऐसा भी मिलेगा भिक्षाटन आदि के भय से कौन जाए दूसरे की गाली खाने के लिए ऐसा सोच करके परिभा तिरस्कार होने की संभावना है बहुत सारे गालियां सुनने को पड़ेगी सभी लोग आपको प्रेम पूर्वक नहीं देंगे ऐसी ऐसी बातें कि पृथ्वी का बोझ है मांग के खाता है कमा के नहीं खा सकता है कई बोलेंगे ये भय है उनको ठीक है अत्र केचित ग्रस्ता कुछ ग्रस्त लोग भिक्षाटनादि भयात इच्छा करके खाने में डर है उनको और परिभवाच तिरस्कृत होने का डर है माना इसे डरते हुए क्या करते हैं सूक्ष्म दृष्टान दर्शन का उत्तर मारे सूक्ष्म दृष्टि माने यार व्यंग किया हुआ थूल दृष्टि वाले हैं ऐसे कहते हैं उत्तर देते हैं कुछ कहते हैं क्या क्या उत्तर देते हैं भिक्षुरपी भिक्षाटनादि नियम दर्शा जो भिक्षुक है सन्यासी है उसके भी तो कुछ न कुछ जीवन निर्वाह के लिए कुछ साधन तो चाहिए भिक्षा दान करेगा भिक्षा करके जीवन यापन करेगा यही है ऐसा देखा है कुछ तो करना पड़ता है ना उसको प्रवृत्ति करनी पड़ती है भिक्षाटन प्रवृत्ति कर रहा हो जीवन यापन के लिए भिक्षोरअपी भिक्षाटनादि नियम दर्शनाद भिक्षुक का भी भिक्षाटनादि नियम देखा है इसलिए देह धारणा मार्थित हो भिक्षुक कैसा है देह धारण मात्र चाहता है और कुछ नहीं देह धारण के लिए भिक्षा करता है ठीक इसी प्रकार का कोई गृहस्थ होगा घर में रह रहा है अभिमान नहीं है केवल देह धारण चाहता है शरीर की रक्षा चाहता है वही की भिक्षा खाता है घर की अन्न खाता है ऐसी स्थिति में इसी प्रकार गृहस्थ श्यापी साध्य साधन ये समा उभय विनय मुक्त साध्य की इच्छा भी नहीं साधन की इच्छा भी नहीं दोनों इच्छाओं से मुक्त है स्वर्ग आदि की इच्छा भी नहीं है यज्ञ आदि करने की इच्छा भी नहीं है साध्य साधन ये समा से मुक्त जो होगा उसका देह मात्र धारणार्थम शरीर रक्षा वो भी चाहता है जैसे सन्यासी भी चाह रहा है तो भिक्षा मांग के खा रहा है तो ये भी शरीर रक्षा चाहता है इतने मात्र के लिए असन आच्छादन मात्र उपजीवन तो केवल भोजन और वस्त्र पे जीना चाहता है असन माने भोजन आच्छादन कपड़ा असन आच्छादन मात्र उपजीव तो गृह एवं अस्तु आश्रम ऐसे व्यक्ति को घर में ही रहना हो क्यों सन्यासी बने वो सन्यास आश्रम में क्यों जाए केवल भिक्षा वो भिक्षा करके खाता है घर में खाता है इतना ही तो है यही बढ़ के रहे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है उसको ये पूर्वादि बोलते हैं कहा सिद्धांत कहते न ये हो नहीं सकता है स्वगृह विशेष परिग्रह नियम से काम प्रयुक्त घर में रहना अपने घर का परिग्रह उसके पास है घर में रहना है ये तो परिग्रह एक विशेष आया स्वगृह विशेष है माने स्वगृह विशेष का होता है पत्नी गृहस्थाश्रम में रहना पत्नी साथ में है तो स्वगृह विशेष माने पत्नी स्त्री विशेष परिग्रह जो गृहस्थाश्रम होने के लिए पत्नी पत्नी साथ होना जो नियम है काम प्रयुक्त इच्छा है उसकी ये बनी बनाई खिला देगी मुझे खाने मिल जाएगा इच्छा है इसलिए बैठा है वो तो काम प्रयुक्त है इसलिए वो कामना के अंतर्गत ही है वो संन्यास नहीं संसार काम करें तो तरंग इसका उत्तर पहले दे दिया कहा एक की टिप्पणी में कहते हैं तथा च गृह समस्या काम मूलकत्व गृह में आसन जो है रहना ज्ञान होने पर घर में रहे कहा गृहासन जो होगा घर में आसन करना काम मूलक है इच्छा मूलक होने से तत्सत्य साध्य साधना इत्यादि उत्तर विशेषण जो है यदि कामना है फिर साध्य साधन से मुक्त नहीं हो सकता वो साध्य की इच्छा साधन की इच्छा रहेगी उसकी कामना है तो इसलिए तत्सत्व है ना काम काम सत्य साध्य साधनता इत्यादि उक्त विशेषण द्वयन होते साध्य साधना से रहित है कहा था पूर्वादि में हो नहीं सकता हो यथोक्त विशेषण बत्वे तो न गृहसन और काम का ये जो साध्य साधन की इच्छा यदि नहीं है तो गृह में रहना पाता नहीं है यदि भाव ये कहा ये कहते हैं स्वगृह विशेष परिग्रह भावे अगर स्वगृह विशेष का परिग्रह है स्त्री विशेष परिग्रह है उसके पास नहीं सपत्नी हूं ऐसे ज्ञान है तो काम प्रयुक्त है इसलिए वो गृहस्थ आश्रम नहीं हुआ और संन्यास नहीं हुआ स्वगृह विशेष परिग्रह अभाव है और पत्नी विशेष का परिग्रह का अभाव है उसके पास अभिमान नहीं कुछ नहीं हो तो शरीर धारण मात्र प्रयुक्त आच्छादना न शरीर धारण मात्र के द्वारा प्रेरित हुआ जो भोजन और आच्छादन के लिए आच्छादन वाला व्यक्ति है उसका स्वपरिग्रह विशेषाभावे अर्थात भिक्षुकत्व नहीं अर्थ से भिक्षु की सन्यासी होगा वो पूर्वादि बोलता है शरीर धारणार्थायाम तनादिशु प्रवृत्त यथा नियमो हो शौचादि शौचालय तथा गृहो विदुषो अकामिनो अस्तु नित्य कर्म से देव प्रवृत्ति यावत जीवादि स्मृति प्रत्यवाय परिहाराय पूर्वादि कहता महाराज शरीर धारण के लिए जैसे तनादि में प्रवृत्ति होती है भिक्षु की शरीर रक्षा के लिए सन्यासी की प्रवृत्ति भिक्षाटन आदि करेगा शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटन आदि सु प्रवृत्त हो प्रवृत्ति में यथा नियम है भिक्षु के भिक्षा के द्वारा ही शरीर धारण करे अन्य कार्य न करे ऐसा नियम है भिक्षु का और शौचालय शौचादि में भी नियम है शुद्धि के विषय में नियम है कई कितने प्रकार के शौच करना चाहिए कैसे कैसे शुद्धि होनी चाहिए संन्यास के लिए नियम है ठीक इसी प्रकार तथा गृह भी जो गृहस्थ है उसका भी विदुषो ज्ञानी होगा गृहस्थ यदि उसका अकामिनो कोई कामना नहीं है साध्य साधन की इच्छा नहीं उसकी ऐसा अकामी ज्ञानी संन्यास गृहस्थ का भी अस्तु ऐसे माना जाए क्या नित्य कर्म से नित्य हो नित्य कर्म में प्रवृत्ति हो उसकी ज्ञानी है साध्य साधन की इच्छा नहीं किंतु तो नित्य कर्म करे यावत जीवात श्रुति नियुक्त क्यों यावत जीवित अग्नोत्र जुहत कहा है तो करे प्रत्यवाय परिहार आए न करने पर दंड मिलेगा प्रत्यवाय लगेगा इसके लिए करे ये पूर्वादि ने कहा सिद्धांत कहते हैं ये तत् नियोगा विषय विषय प्रत्युक्त अशक्य नियोग अशक्य आचरा ये जो तुमने कहा नियम बताया ये ज्ञानी जो होता है नियोग का विषय होता है कोई आदेश नहीं दे सकते उसको ये करना कोई आदेश नहीं हो सकता ये कहा नियोग अविषय विदुष नियोग का आदेश का विषय न होने से ज्ञानी का ये तत् सबके सब प्रत्युत्तम ये सब खंडित हो गया है असत्य नियोगात्वाच उसको नियोग नियंत्रण करना संभव नहीं कोई है उसको नियंत्रण नहीं कर सकता ज्ञानी को ये कहा टीका से इसका अर्थ पूरा होगा दो नंबर टिप्पणी कहा तथा यथोक्त नियमो विविधेश्वर एवं भिक्ष ये जो भिक्षाटन आदि के द्वारा ही जीवन निर्वाह करना शौच आदि के नियम का बताया भिक्षाटन आदि नियम बताया विविधेश्वर सन्यासी के लिए विद्वत सन्यासी के लिए नियम नहीं लगता तो विविदेशी सन्यासी के लिए नियम है जब तक उस आत्मा को नहीं जाना है आत्मा को जानने की इच्छा से सन्यास धारण करता है विविधि सन्यासी है वो उसके लिए नियम है भिक्षाटन आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना परिग्रह की व्यावृत्ति के लिए और शौचालय के बारे में विशेष ध्यान रखना ये विद्युत सन्यासी के लिए विद्वत सन्यासी के लिए नहीं होता ये टिप्पणी में कहा ये कहा तथा यथोक्त नियम जो पूर्वोक्त नियम है विविधिशो रेव भिक्षु विविधिशु भिक्षु का है न विद्वान सत्यो अत्र दृष्टान्त विद्वान माने विद्वत सन्यासी है उसको दृष्टांत नहीं दे सकते उसको भी ये नियम है तो वैसे आश्रम में रहते हुए नियम करे अग्निहोत्रादि करता रहे ऐसा नहीं बन सकता है माने सन्यासी भी बने घोषित हो जाए और अग्निहोत्र करता रहे ऐसा नहीं बनेगा ये कहा टीका से कहते हैं तेषाम न न्यायो मूलम किंतु वयादिकम एवं मूलम दृष्ट वयादिकम दृष्ट भयादिगम एवं मूलम यदि वसन आशा कहते हैं गृहस्थ में कुछ गृहस्थों ने कहा था भिक्षाटन के भय आदि से परिवक्त उसे दृश्यमान होते हुए सूक्ष्म दृष्टा दृष्टि को लेकर के कहा था क्या कहा था कैचित गृहस्थ बोला था क्या बोला उन्होंने उसको भाष्य में बोल दिया है यहीं रहना पड़े संन्यास आश्रम न जाए यहीं पर घर का खाता हुआ रहे कहा उनका कहना क्या है तेसाम न्यायो मूलम न न्यायो मूलम युक्ति संगत नहीं इनकी बातें उन गृहस्थों की बातें युक्ति संगत नहीं किंतु दृष्ट भयादिकम मूलम भय है भिक्षा आदि करना भय है यही मूल बना हुआ उनका इसलिए गृहस्थाश्रम में रहना चाहते हैं भिक्षा करके खाना मुश्किल पड़ेगा इसके लिए वहीं रहना चाहते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं ये कहा ठीक है न्याय माने नौ की टिप्पणी में कहा न्यायो नियम दो अविशेष है दो नियम बताया जैसे माने सन्यासी के लिए नियम है भिक्षाटन आदि करना शौचादि का करना ऐसा नियम उसका भी ऐसे नियम है आश्रम में रहे साध्य सदा साधन साधना के यशा से मुक्त है देह धारण मात्र के लिए भिक्षा वहीं खा के बैठे संन्यास आश्रम क्यों जाना कहा यह युक्ति संगत नहीं कहा भिक्षाटन आदि ये कहा परिभव पामरे क्रियमाण तिरस्कार परिभव के भय से भी है माने पामर पुरुष जो विषयी एक पामर होते हैं चार प्रकार के मनुष्य होते हैं एक पामर मनुष्य होता है एक विषयी होता है एक विषयी है दूसरा होता है मुमुक्षु तीसरा होता है चौथा होता है मुक्त पामर विषयी मुमुक्षु और मुक्त चार प्रकार के पुरुष होते हैं पामर वो होते हैं जो पशुवत जीवन है जिनको कोई अता पता नहीं इस लोग परलोक ईश्वर आत्मा अनात्मा कोई पता नहीं जैसे पशु सूर्योदय होता है आहार विहार के लिए जाते हैं सायंकाल और सूर्यास्त होता है अपने जहां रहने का स्थान इतना पता है वहां आगे बैठ जाते हैं वैसे जीवन चिंता है ये पामर पुरुष बात है पामर है पशुवत जीवन चिंता है कोई श्लोक परलोक आत्मा अनात्मा जीव जगत परमात्मा कोई पता नहीं है केवल दिन रात का पता है दिन आया अपने व्यापार में लग जाना रात्रि आने पर सो जाना पशु भी ये काम करते हैं इतना करने वाले को पामर कहते हैं मनुष्य होते हुए पामर है दूसरा विषय ही है लोभी लोग हैं यहाँ थोड़ा दे करके वहां ज्यादा मिलेगा सुना हुआ है इसलिए यहाँ सर्वस्व दान भी कर जाते हैं वहां के लोभ से स्वर्ग के लोभ से इसको विषय ही कहते हैं विषय चाहते हैं ज्यादा यहाँ देते हैं दान पुण्य करने से वहां ज्यादा मिलेगा यहाँ एक करेंगे तो सौ गुना वहां मिलेगा ऐसा सुना हुआ है ऐसा सुनने के कारण से दान पुण्य आदि बन लगे निष्काम भाव से दान पुण्य करना एक अलग विषय है सकाम भाव से इच्छा से फल की इच्छा है ऐसे करने वाले को विषय ही है वो विषय चाहते हैं विषय वाले हैं थोड़ा देना ज्यादा लेना इस, जिसको आज धर्मात्मा करके बोला जाता है ना तो ऐसे हो जाता है एक तो निष्काम वाला कर्म करने वाला होता है एक सकाम कर्मी वाले को ऐसा माना गया विषय ही कहा गया है तीसरा होता है मुमुक्षु पुरुष होता है संसार से मुक्त होने की इच्छा है मुमुक्षा नहीं मुमुक्षा व्यक्ति है मुमुक्ष होता है चौथा मुक्त होता है ये चार संज्ञा है तो पामर होता है जिसको पशुवत जीवन है जिसका जीवन पशुवत है हाँ। आहार निद्रा भय मैथुन आदि इतना समान जानता है बाकी धर्माधर्म के बारे में पता नहीं है स्वर्ग नरक आदि कुछ नहीं ईश्वर श्लोक परलोक के बारे में पता नहीं है जीव जगत ईश्वर के बारे में पता नहीं पशुवत जीवन जिनका चलता है बहुत सारे ऐसे हैं जीवन आज के दिनों में ज्यादातर यही ऐसे लोग मिलेंगे पामर लोग मिलेंगे यही पामर यही शिकार होता है कहा अच्छा परिभव पामरे क्रियमाण तिरस्कार कहा परिभव का अर्थ भाषण परिभव कहा था तो क्या है पामर पुरुष के द्वारा जो तिरस्कृत हो जाना ऐसे लोग जो तो पामर होंगे वो लोग भिक्षाटन आदि में कोई जाएगा साधु आदि पहुंचेगा तो ऐसे गालियां देंगे तो उनके द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा करके संन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहते हैं भिक्षा मांगने नहीं जाना चाहते हैं घर में बैठ के खाना चाहते हैं ऐसा कहा सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म दृष्टाम दर्शनतम आहू कहा था सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ क्या करते हैं काटवा व्यतिरेकण थूल दृष्टि है या सूक्ष्म दृष्टि का थूल दृष्टि वाले हैं ऊपर ऊपर से देखते हैं ये लोग कहा काप दस की टिप्पणी कहा वैपरीत्य द्योतक स्वर भेद है ना हेतु ना है काकुआ शब्द आता है क्या आता है विपरीत रूप से कहने को काकुआ बोलते हैं माने सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ थूल दृष्टि अर्थ लेना व्यतिरिक व्यतिरिक ग्यारह की टिप्पणी में कहा विपरीत लक्षण या विपरीत है जैसा कहा वैसा नहीं है सूक्ष्म दृष्टिता माने थूल दृष्टा ये आपने करना है कहा अच्छा। हो गया आगे फिर करेंगे समय हो गया है ठीक है फिर देखें ओम बांग में मनसे प्रतिष्ठित मनो में पाचे प्रतिष्ठित आविरावीर्मये वेदस्य स्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरमेनादीतेन होरात्रां सन्ददाम् ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु सर्वतारमवतु अवतु माम् अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति